कहत भल कै न को बुध सम्मत दो तात तुम्हार तुहार निर्मल पाए लो कहू। भेद मत सब कहीं यह पितु तो दे राजसोलह राव सत्य व्रत तुम ही बुलाए देत राज सुख धर्म बड़ाए यह कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है राजा सत्यव्रती थे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता धर्म रहता और बड़ाई होती राम गवनु बन अनरथ मोला जो सुन सकल विश्वभय सोला शोभावे बस रानी याने कर कुचारियन तहु पछितानी तुम्हार तलपय पराधु कहय सुवधम अयानय साधु करते तुम राजतु न दोषो हे होत सुनत संतोष सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई वह श्री राम का वनगमन भी भावीवश हुआ बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता अभयति के भरत भल तुम्हें उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया यही मत तुम्हारे लिए उचित था श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भाग को तुम ही समाना यह तुम्हार या चरजुनता दशरथ सुवन रामप्रिय भ्रातामहु भरत रघु माहि प्रेम पात्र तुम नाहि नखन राम से तहि प्रीति निस सब हे सराहत बीती सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हेता तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो हे भरत सुनो श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती जाना मरमो नहात प्रयागा मगन हो हे तुम रे अनुरागा तुम यश स के सुख जीवन जग जस जड नर के अधिक रघु धीर बड़ाए प्रणत कुटुम्ब पालरघुराये तुम तो भरत मोर मत ये हो धर देह जनो राम सने हो प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयाशक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं हे भरत मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो तुम कह भरत कलंक हम तुम कह भरत कलंक हम सब कह उपदे राम भगत रस सिद्ध हित भाय समगणेशु हे भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सब के लिए तो उपदेश है श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है